अय मोमिनो जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो तो इन पर तुम्हारा कोई हक इद्दत का नहीं जिसे तुम शुमार करो बस तुम कुछ ना कुछ उन्हें दे दो और भले तरीक पर उन्हें रुखसत करो